नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वद्देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्येशतारिणे जय चैतन्य प्रभु प्रभुनित्यानन्द श्री शिवाशादिगौर्भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीऋषिरुवाच एवं जिहासु नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषं कैटभोप्सु एवम् जिहासो नृपदेहमाजौ मृत्युम् वरम् विजयान्मन्यमानः शूलम् प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषं कैटभोप्सु पढ़िए चरत में ऋषि ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृपदेहमाजो एवं जिहासुर्नृपदेहमाजो मृत्यु वरम् विजयान्मन्यमानः शूलम् प्रगृह्यभ्यापत सुरेन्द्रम् शूलम् प्रगृह्याभ्यपता सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषम् कैटभोक्सु एवम् जिहासो नृपदेहमादौ मृत्युम् वरम् विजयान्मन्यमानः शूलम् प्रगृह्यायपतात् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषम् कै श्रीऋषिर्वाच भसुरुवाच एवम् जिहासु नृपदेहमाज मृत्युम् वरम् विजयान् शूलम् प्रगृह्याभ्यपतात् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषम् कैटवोप्सु ततो जुगान्ताग्निकठोरजीवाम् आविद्यशूलम् तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनाद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगादम् पढ़े आप लोग बारहवा अध्याय ट्वेल्व चैप्टर एवं जिहासु नृपदेहमाजौ मृत्युम् वरम् विजयान् मन्यमानः शूलम् प्रगृह्याभ्यपतत् एवं जिहासो नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतात् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषं कैटभप्सु एवं जिहासु नृपदेहमाजौ मृत्यु वदं विजयान् मन्यमानः शूलम प्रगृह्या सुरेन्द्र यथा महापुरुषं कैतभाप्सु read एवं जिहासु एवं माजौ मृत्यु बरम विजयान् मनम शूल प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषं कैटभोक्सु कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं एवं जिहासु नृपदेहमाधव मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्सुरेन्द्रम् यथा महापुरुष कैटभप्सु ऋषिर्वाच तीनों काल की बात जानने वाले सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार जिहासु त्यागने के इच्छुक नृप हे महाराज परीक्षित देहम देह को आजो युद्ध युद्ध में मृत्यु मृत्यु को वरम श्रेष्ठ विजया विजय की अपेक्षा विजय की अपेक्षा मन्यमान मानते हुए शूल त्रिशूल प्रगृह्य पकड़कर अभ्यपत आक्रमण किए सुरेंद्र इंद्र पर जथा जैसे महापुरुषम भगवान विष्णु पर कैटभ कैटभ नाम का असुर अप्सु प्रलयकालीन समुद्र में यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी को सूत जी ऋषि कह रहे हैं ऋषि रुवाच कहीं कहीं श्री सुख उवाच कहीं बादरायणी रुवाच यहाँ पर ऋषि रुवाच ऋषि उवाच ऋषि का अर्थ होता है वेद मंत्रों का ज्ञाता और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले को ऋषि कहते हैं तो सारी बातों को ठीक से सुखदेव गोस्वामी जानते हैं और व्यक्त करने में परम प्रवीण हैं इस आशय से यहां इनको ऋषि कहा गया है ऋषि रिवाज वे कहते हैं कि विजयात मृत्यु वरम मन्यमान विजय की अपेक्षा विक्टरी के अपेक्षा मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानते थे वृत्राश्र जी वो युद्ध कर रहे थे लेकिन युद्ध में विजय नहीं चाहते थे विजया तो मृत्यु वरम मन्य माना मृत्यु को बहुत हायर श्रेष्ठ समझ रहे थे सुप्रियर समझ रहे थे <coughs> और इसलिए वे चाहते थे कि इंद्र उनका वध करें क्यों मृत्यु को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि देहम जिहासु वो देह को त्यागना चाहते थे छोड़ना चाहते थे जो देह प्राणियों को इतना प्रिय है ऐसे देह को वृत्रासु त्यागने के इच्छुक थे और विजय की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझते इसीलिए इस प्रकार वे भगवान से विनय तो किए बाद में उन्होंने देखा कि जब तक मैं इंद्र को मारने की चेष्टा नहीं करूंगा तब तक इंद्र को क्रोध नहीं आएगा और क्रोध नहीं आएगा तो ये मुझको मारेंगे नहीं वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप वज्र चलाइए वज्र चलाइए लेकिन भीख मांगने से तो इंद्र मारेंगे नहीं जब तक उनको क्रोध नहीं आएगा तो नहीं मारेंगे तो इंद्र क्रोध में हो इसके लिए इंद्र को मारने के लिए चले और यहां तक कहा कि हतोसी पापेती थी जगादा अरे पापी अरे मूर्तिमान पाप अब तुम नष्ट हो गए मर गए हतः आसीत अब तुम मर ही गए तो मृत्यु को श्रेष्ठ समझते हुए देह त्यागने की इच्छा से सूलम प्रगृहिया ट्राइडेंट त्रिशूल को लेकर हाथ में ऊपर करके और आक्रमण किए इंद्र पर तो कैसा उनका त्रिशूल था तत् जुगांताग्नि कठोर जीवम आविध्य शूलम तरसा सुरेंद्र क्षिप्तवा महेंद्राय हतोसि पाप महेंद्र विनद्य बीरो हतोसि पापे तिरुषा जगा दो बिल्कुल क्रोध में आ गए वृत्रासुर कि हमको मार क्यों नहीं रहा है तो मैं इसको मारूंगा यह सोच करके हाथ में त्रिशूल लेकर आक्रमण किए और महेंद्र पर चलाए यहां पर देवराज इंद्र को सुरेंद्रम और वृत्रासुर को असुरेंद्र कहा गया वे ये असुरों के तरफ के लीडर थे और इंद्र सुरों के तरफ से लीडर थे तो देवराज इंद्र को मारने के लिए असुर श्रेष्ठ है वृत्रासुर टूट पड़े यहां पर वृत्रासुर के गुण के कारण उनको असुर नहीं कहा जा रहा है जन्म के कारण असुर कहा जा रहा है जैसे प्रहलाद महाराज को भी कभी कभी असुर कहा गया है लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि क्वालिटी असुर की थी इसलिए असुर असुर कहा गया है असुर में जन्म लिए थे इसलिए जन्म के संबोधन को लिखा जाता था असुरेंद्र तो वृत्रासुर इस प्रकार भगवान इंद्र पर आक्रमण किए विनद्य बहुत जोर से गरज करके महेंद्राय सूलम छिपतवा सूल को मारे और ये कहे कि हत हयासी पाप इति रूसा जगाद रूसा मतलब क्रोधे ना जगाद वाश क्रोध से बोले पापी नहीं कहे अरे मूर्तिमान पाप personified sin yours personified sin और ये कह करके कहे कि अब तुम मर गए निश्चित नहीं जीवित बचोगे और इस तरह उस वीर ने गरज करके इंद्र को मारा तो भगवान इंद्र को इसमें महेंद्र कहा गया कभी कभी उनको इंद्र कहते हैं और कभी कभी महा इंद्र कहते हैं महा इंद्र महेंद्र <laughs> और ऐसे जनरल शब्द में इंद्र कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि इंद्र नाम के और भी बहुत से लोग हैं लेकिन ये महा इंद्र हैं <laughs> स्वर्ग के राजा तो उनको वृतराशन ने कहा कि हत है असी पाप इति अरे पाप तुम हत है असी तुम मर गए मैं निश्चित मार चुका तुमको और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वीर वृतरासुर एक वीर व्यक्ति थे इस तरह कह करके इंद्र के प्रति सुल चलाए तत्व जुगांताग्नि कठोर जीवम वह सूल कैसा था जुगांताग्नि कठोर जीवम जुगांत कहते हैं जब जुग का अंत होता है प्रलय होता है तो प्रलय के समय जो ब्रह्मांड में आग लगती है वो बहुत प्रचंड होती है आग तो प्रलयकालीन अग्नि के समान त्रिशूल का अग्रभाग जल रहा था इतना दिदीपमान था कठोर जिहवा जिहवा का अर्थ है जैसे त्रिशूल के अग्रभाग होते हैं देखा होगा आपने तो उसको शूल की जिहवा कहते हैं तो वह प्रलयकालीन अग्नि के समान कठोरता ऐसे त्रिशूल को घुमाया उसने आविध्य घुमा करके और चलाया जिसको देख करके भगवान इंद्र घबराए नहीं देख रहे थे कि हम पर चला रहा है खे आपत तद खे आपतत तद विचलत ग्रहोल कवत निरीक्ष दुष्प्रेक्ष मजात विक्लव वज्रेण वज्री वज्री सतकर बड़ा छिनत भुजम चतस्यो रगराज भोगम तो आकाश में वो त्रिशूल आ रहा था वृत्रासुर थोड़ा दूर से ऐसे चलाया था मौसम बना करके और ऐसा लगा कि जैसे प्रलय कालीन जैसे आग लगती है वैसे आग उसमें से निकल रही थी और भगवान इंद्र की तरफ आ रही आ रहा था वो त्रिशूल वह दुष्प्रेक्ष्य था उसके तरफ आंख उठा करके देखना असंभव था इतना कठोर था वह प्रचंड लपटे निकल रहे थे लेकिन उसको देखकर निरीक्ष अजात विक्लवा इंद्र घबराए नहीं एकदम धैर्य रहे क्यों क्योंकि वज्री उनके हाथ में वज्र था जिसमें दधीचे मुनि की तपस्या थी और भगवान का आशीर्वाद था इसलिए इंद्र डरे नहीं वज्रण वज्री सतपर बना छिनत वज्र में सौ धार है सौ धार उसको धार को क्या कहते हैं रेज रेजर इज वो काटने के लिए और सौ धार वाले वज्र से उन्होंने छिनत अच्छिन्न त्रिशूल को काट दिया है हाथ में अभी त्रिशूल वो चला चलाना चाहता था और जेब ही छोड़ा ही पहले वज्र आकर त्रिशूल को काट दिया और आ करके उसके भुजा को भी काट दिया तुरंत धड़ाम से पर्वत की तरह भुजा गिर पड़ी और नदी जैसे बरसात के दिन में लाल लाल निकलती है पर्वत से वैसे खून की धारा बहने लगी इतना बड़ा बड़ी बात लेकिन वज्र में बहुत शक्ति थी तो वृत्रासुर के त्रिशूल को खंडित किया और भुजम च और भुजा को भी तस्य रगराज भोगम उरगराज वासुकी जी को कहते हैं वासुकी सर पे बहुत मोटा है और बहुत लंबा है